दशरथ तुम राजा दशरथ हो हो गया धन्य दर्शन कर मैं यह जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा तो इसमें दोषी कर शरण नाम मेरा दो नैनों का मैं तारा हूँ माँ बाप वृद्ध है अंधे हैं उनका ही एक सहारा हूँ बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में सरयो तट कर आज मरा माँ और बाप की सेवा में ईश्वर से ईश्वर से यही कामना है जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है जगपते जन्म जन्मांतर भेद अनुरक्त पिता माता के हो जब कभी कभी जन्म हो इस जग में जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है मरने वाले का मरने से पहले यह दुख निवेदन है अंधे बूढ़ों को देखभाल अब अपने कंधों पर लेना आकर जो मुझे संभाला तो कर ले जाकर उन्हें पिला देना होगी यह अंतिम कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना गर्वोक्त समझना नहीं उन्हें निर्मल मन के गुंजारे है माँ और बाप के सेवक के यह भाव भरी धर्मात्मा मेरे मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरी माता प्रसन्नता है पिता है मुझे प्रमोद भंडार हरण हो नहीं सकता माता पिता के ऋण से पूर्ण हो नहीं सकता रग रग मेरा धे श्याम ये राम है शब्द ओम माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम सेवक का रोम रोम सेवक का रोम रोम प्राण कंठ तक आ गए देह हुए Le कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा अंबर के ऊपर उत्तर था लाया हूँ मैंने कहते तो कह गया पर पानी हुआ ने बोली जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है क्या सर्दी खाई है तू जो बोल हो रहा भारी है चिंता न हमें कुछ अपनी है तू तो तब भाग्य सुखारी है सोच रहा था खड़ा मैं कैसे देखा नहीं झूठ अयोध्यानाथ रघुवंशे का सत्य है सदा प्राण के साथ हे महामते हे महामते मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ वह बड़भागी परमारथ था मैं एक भागा स्वार्थ हूँ सरयू तट मरा बाण सेव मेरे शिकार के धोखे में अपना ये पाव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में काप काप कर कह सका मैं इतने ही बात उस अंधे के हृदय में लगाते प्रयाघात बोला वह छाते फाड़ खाए क्या जग में श्रवण कुमार नहीं जब प्राण नहीं तो देह नहीं जब देह नहीं तो संसार नहीं नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वह चल सकता है हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है जल जलाया जल जाए यह जल निर्जल ही प्राण तजेंगे हम जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचाएंगे हम अब जल क्या अमृत तलक आए तो अपने लिए करल सा है हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है दशरथ जल देता फैला दे मत दे तो क्या दे सकता है जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है जल देता है अंजलि में दे फल अभी मिलेगा आप तुझे आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा साप तुझे जिस तरह पढ़ाते में बरताओ या अंधा पुत्र चिंतवन चिंतवन बे जो ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं पाए लगे मुझे यह साथ चले तो प्राण चले संबंध प्राण के साथ चले आंखें पहले ही पास न थे अंधों के टेक श्रवण ही था क्यों न रहो मरणित जीवन का जब जीवन एक श्रवण ही था आ श्रवण श्रवण आ अंधकार जिसको ठेरे अंधी मैया गोदे सुहाग सब सोना है बस जीव प्रकृति शोभायमान है सभी वही दे गए जहाँ तू गया जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वही कानों को खोल अयोध्या पति सुन ले बिलाप जब अंधे का अभिशाप सुन चुका अंधे का ग्रहण साप जब अंधे का जो हृदय फूल कर उठती है वह आग्न ठंडी होती गुर्दे के पास खड़ी होकर यह रावण राण्यपूति कहती है पति का तो कर्म विहीन पड़ा हो नरपति यही हाल तेरा तेरे बे मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर हत्या है यह तीसरी आए आज की रात फिर तो होगा वही जैसा है भवितव्य अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य चाहे अनजान में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ टूटे छाती के छापों का नस्तक पर अपने धरता हूँ दशरथ को सच्चा हो उत्पन्न साप ही के कारण मुझ पित्रहीन का बच्चा हो यह सोच धैर्य आया मुझे लौट कर अति अंत क्रिया सबके पर आज वही आखेट तो कर्म देता है मुझे सजा तब की मेरु प्रेतात्माए अब मेरे आगे आती है कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती है दुनिया में आज किसको मैं क्या क्या बदलाऊं दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ पिछला भाग हूँ जो फुटा तारा हूँ वह जो टूटा छाती पे मैं धरा की एक भार सा धरा गद्दी से जो है उतरा सब कुछ छिना प्रजा उड़ता हो जगे तभी प्रात का उसी समय निर्वाण तभी लाश पर रानिया गिरे दुहत्तर मार अंतपुर में